بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري اتقى الفلك इस हदीस के सिर्फ एक अजीज नालकुमान तुम हरीस नालकुम बिलमिनी अलबत्ता तहकीक में तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आया जो तुम्हारे ऊपर बहुत हरीस आप कहेंगे कि नबी की एक सिफत हरीस आई हरीस माने तो लालची होता है नहीं हिर्स का मतलब होता है इसी चीज की तलब में पूरी ताकत और पूरी उसात लगाते हैं जनाब मोहम्मद वसल्लम को हरीस इस वजह से कहा गया कि आप चाहते थे कि पूरी इंसानियत जो गुमराही के दलदल में फंसी हुई है जलालत की खाई में गिरा चाहती है जहनम के रास्ते पर सरपट ढाले जा किसी तरह उसको पकड़ करके पीछे खींचने और जंगल के रास्ते बनाने और इस सिलसिले में आपने अपनी पूरी कुवत और पूरी उसार लगाई इस मिशन इस काम में आपको इतनी तकलीफें बर्दाश्त की तस्वूर करने वाला और सीरत करना लिखे इल्म जब उन मरसदों से गुजरता है तो उसको रोकते खड़े हो जाता है आपने फरमाया मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना डराया गया तो उससे पहले किसी नबी को नहीं डराया और मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया है इससे पहले किसी नदी को नहीं सुनाया गया यहां तक कि मेरे पास कभी कभी खाने के लिए दोषे के नाम पर इतनी चीज रहती थी जिस पर मैंने महीना दिन गुजारा जिसे बिलाल की बगल छुपा लिया एक आदमी की बगल में कितना कोशा आ सकता है इतने मुख्तसर कलील तोशे के ऊपर महीना दिन गुजारना तस्वुर से रोकते खड़े हो जाते हैं ये मतलब है हदीस नाले तुम्हारे ऊपर बहुत हदीस है वो चाहता है कि तुम में से कोई भी इंसान जहां में नजर जाए दीवानों की तरह हज में आए हुए कबाई के पास जा रहे हैं मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ उस पैगाम को मानो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिर में भी कामयाब हो जाओगे और जैसे आप वहां से गुफ्तगु करके हट गए आपका चचा वहां पहुंचा और कहता ये पागल है आप आवाजदार के दिन से फिरा हुआ बहुत बड़ा झूठा है فما رأيت أحدين يقول شيئا ولا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وفي الوجه زعض ديرتين يقول إنه صام كاذب فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة فقلت من هذا قالوا عمه أبو لهب فقلت إني كنت يومئذ إنك كنت يومئذ صغيرا فقلت لا والله इन्नी कुंतु लताते रवा वाहन मुस्लिम ये पूरी रिवायत मैंने मुस्लिम रहमत की आपके सामने हजरत रबिया एक नंबर कहते हैं कि मैं छोटा सा था लेकिन समझदार अकुल थी मेरे पास मैंने देखा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूखे जुल मजा जुल मजा से बाजार आप लोगों को मुखातब कर रहे हैं वरना से मुतकस से उठना आ रहे लोग आपके ऊपर टूटे पड़ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं लोगों कामयाबी तुम्हारे कदम चुनेगी मैंने नहीं देखा कि कोई कुछ बोलता हो हमारा आई वाहिदा या कोई विषय है मैंने नहीं देखा कि कोई शख्स कुछ बोलता हो वला यसकुतु यकूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा को बोलते जाने आप चुप ही नहीं हो रहे यही कह रहे हैं अय्युहन नास कुल ला इलाहा इल्लल्लाह हां एक आदमी होता इन्ना इल्ला अन वराअहु रजुल आपके पीछे एक आदमी था भेगा दो चोटियों वाला वो बोलता था कि ये आदमी अपने आपावासदार के दिन से फिर गया है झूठा है तो मैंने पूछा ये कौन है कहा मोहम्मद इब्न या नास ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और मैंने पूछा ये कौन है तो लोगों ने बताया ये आपका चचा बोला बताइए एक दाई के लिए कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ा होगा कि बड़ी मुश्किल से कबीले वालों के सामने एक बात रखता है और उसका चचा आकर के ये कोशिश करता है कि किसी तरह से आदमी का पैगाम लोगों के जहनों तक इतना मारा गया कि नाले में दोबारा से कर दो लेकिन फिर भी आपने लोगों के लिए बदवा नहीं इंसानियत के लिए बदवा नहीं इस वजह से अल्लाह ने फरमाया हरीस नाले आप लोगों के ऊपर बहुत हरीस हिर्स का मतलब यह है कि आप चाहते हैं पूरी कुत लगा रहे हैं पूरी वसात लगा रहे हैं कि लोग जहन्नम के रास्ते से हट कर जन्नत के रास्ते दुनिया के हिल्स माल दौलत के हिल्स जाहो हशम के हिल्स नामूर की हिल्स शोहरत के हिल्स दुनिया में शर्म हिल्स इन तमाम चीजों में हिल्स का हुक्म नहीं दिया गया तैनात का हुक्म दिया गया जी मालो दौलत की हिल्स मायूम है शरीर शोहरत की हिर्स मायू है जाहो हशम की हिर्स मायू है शरीर में इन तमाम चीज़ों पर करार का हुक्म दिया गया दौलत से आदमी का पेट हमारा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आदम मिन अगर किसी इंसान को दो वादियां सोने भर की सोने भर मिल जाए दो वादियां सोने से भरी मिल जाए तो, तो कोशिश ये करेगा कि तीसरी वादी मिल जाए आदमी के पेट को मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं मिल सकती शादी ने बड़ी अच्छी बात कही है हृदय तंग बयन्ना गर्दन हृदय हृदय तंग बयन्ना ने गर्दन नेमते हुए पूर्ण पुनः दी दे खाली एक तो लेकिन लालची की आंख को पूरी दुनिया की नेमत मिल करके भी नहीं भर सकती आदमी का पेट कपड़ा तो माल दौलत के हिस्स मालूम है इस पर तैनात हुक्म दिया गया शोहरत के हिस्स मालूम है तैनात हुक्म दिया गया चाहो अशोक के हिस्स मालूम है इस पर तैनात हुक्म दिया गया शोहरत के हिस्स मालूम है इस पर तैनात हुक्म दिया गया हाँ हिस्स दीन के ऊपर और साहब कराम इस्लाम और हमारी जिंदगी में यही फर्क है साहब कराम की जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों में एक बड़ा फर्क यह है कि वो हिर्स करते थे तो दीन के ऊपर हजरत अब्दुल्लाबिन उमर रजी अल्लाह तजरत अबू हुरैरा के पास आए और आपने फरमाया कि रसूल वसल्लम की कोई हदीस सुनाओ अल्लाह पर आज वो मिजाज नहीं मौलवी जब तकरीर करता तो गालियां होता रूह को सहकल करने वाली रूह को तड़पा देने वाली बातें होती ही नहीं साहब इक्राम जब कभी बैठते तो या तो कुरान पढ़ते या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना सुनाया एक दफा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तायफ गए पूरा तायफ पाक मुसलमान हो जहां पहले गए तो आपने मार दिया पूरा तायफ मुसलमान हो शोर हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीम शान सहाबी तशरीफ लाए तायफ के जाकर में बयान कर दिया कि हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु के प्यारे साहबी हजरत अबू हुरैरा का आज तायफ की जामा मस्जिद के अंदर बयान हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला मिंबर पर तशरीफ लाए और तकरीर से पहले उन्होंने फरमाया कि यहां अगर इस मजलिस में कोई काते रहम बैठा हुआ हो तो मजलिस से उठकर चला जाए रिश्तेदारी को काटने वाला इस मजलिस में अगर कोई काटे रहम बैठा हुआ एक नौजवान उठा और मस्जिद के दरवाजे से निकलना चला गया थोड़ी देर बाद आया और उसी जगह बैठा प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो वो शख्स आया और कहा कि हजरत आपने तकलीफ से पहले बयान से पहले ये क्यों फरमाया कि अगर इस मजलिस के अंदर कोई काते रहम बैठा हुआ तो उठकर चला जाए तो हजरत अबू रहम ने फरमाया मैंने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमा के सुनाया कि जिस मजलिस के अंदर रिश्तेदारी का काटने वाला बैठा हुआ हो उस मजलिस के ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं होती कहा गया हजरत इसी वजह से मैं उठा मेरी और मेरे मामू की नहीं बनती मैं अपने मामू को मना कर फिर उसके बाद आया हूं इस तरह हदीस सुनने और सुनाने के मिजाज और उस पर अमल करने कल के ऊपर इंशाल्लाह जब लोग बात करेंगे सी तो साहब ग्राम रजमान तजमैन का मिजाज ये था कि को जिसको जो दिया है ज्यादा से ज्यादा ला करके मस्जिद नबी में हाजिर करें जंग की तैयारी करनी और उसमें बहुत सरफा जिसके पास जो कुछ था कुछ ना कुछ ला करके उसने मस्जिद ने में रख दिया हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तुम घर का पूरा सासा उठा रहा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने घर के असासे के दो हिस्से के एक हिस्सा के मस्जिद नबी में रख दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमर क्या लाया था कि अल्लाह के रसूल घर के असासे के दो हिस्से के एक हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ दिया है हिस्सा लिए हजरत अबू बकर से पूछा कि तुम क्या लाया था अल्लाह के रसूल पूरा असासा घर का अल्लाह के रास्ते में ले आया हूं और मैं घर वालों के लिए क्या छोड़ा था अल्लाह उसके रसूल कहने का मतलब ये कि वो लोग दीन के मामले में हिस्सा दीन इसलिए कि दीन ही नाम है दीन से ज्यादा नफा बख्श चीज और कोई है ही नहीं इसलिए कि ये आखिर तक काम आने वाली चीज नफा बख्श चीज वही तो है तो हिर्स करो तो नफा बख्श चीज के ऊपर गैर नापे चीज के ऊपर मेहनत नहीं करनी चाहिए साथी रहमतुल्ला ने इल्मी मौजूद है मौजूद एहसास मौजूद होते हैं सवाल आपको जवाब की होनी चाहिए उसकी तैयारी होनी चाहिए फिलहाल जहन भी साथ नहीं दे रहा है हाजरीन की तरफ से बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि कल तल के उन्वान पर ऐलान किया गया था तो इन शाला इस तल्लुक से आइंदा किसी नशिस्त में तफसी खिताब फरमाएंगे इसके लिए एक तवील वक्त दरकार है और एक इलमी मौजू है और और नफस जो है अगर उसमें मौजूद रहेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है इनमें गुप्तश नागा कोशी दलित सौदा बितश में लाई नया मोजत बहाई मस्त गुप्ता तो खामोशी गया मोजत बहाई कि एक बेवकूफ एक गधे को पढ़ा था देखिए गैर नापी चीज के ऊपर कोशिश है एक बेवकूफ एक गधे को पढ़ा एक गधा के खड़ा रहता था सुनसान जगह में ये जाकर उस गधे को पढ़ा था और बरू बरसक करने से लाया उसके ऊपर बड़ी जबरदस्त कोशिश कर रहा बड़ी मेहनत कर एक अकलमंद उसको बराबर देखता रहता था कि ये जाकर गड्ढे को हकीम कोशिश अकलमंद ने कहा तुम लोगों को क्या कोशिश करता है सौदा में डर से लॉ में लाइन पागल बने तो किसी मलामत करने वाले की मलामत से डर किसी ने देख लिया कि तू गधे को पढ़ाता है तो क्या कहे नया मौसम बहाई मस्त गुफ्तार खामोशी गया वो सस्ता है चौपाए उसे बोलना नहीं सीख सकते तू चौपाए से चुप रहना सीख ये चौपाए ये जानवर तुझसे बोलना नहीं सीख सकते तू जानवरों से चुप रहना सीख तू गैर जरूरी चीज पर गैर नाफी चीज पर हिर्स से मना किया गया हिर्स कहते हैं पूरी कुत और गुस्सा को किसी चीज की तलब में लगा देना और इंसानी कमाल का राज दो ही चीजों में घुसना है एक तो हिर्स और दूसरे नाफी चीज की हिस्स इसलिए भी अगर हिस्स नहीं किया तो उस चीज के हसूल में कमाल नहीं मिला और अगर हिस्स किया लेकिन वो चीज नाफे नहीं है तो हिस्स ही देगा कोशिश ही देखा इसलिए कि हिस्स जिस बात ने किया है उसने जिस चीज के बारे में हिस्स किया वो चीज नाफे नहीं हिस्स ही देगा खुलासा ये कि दीन के ऊपर मेहनत होनी चाहिए दीन के ऊपर कोशिश आज हमारे अंदर यही कमी है कि हमारी पूरी मेहनत दुनिया के ऊपर हो रही दीन के ऊपर नहीं हो रही और दीन और दुनिया के अंदर दुनिया की फर्क कुरान ने यह बताया है कि दीन मेहनत पर होने से और दुनिया अल्लाह की मशीयत पर होने से नहीं समझ दीन इंसान की मेहनत पर होने से क्या मतलब इंसान दीन में जितनी मेहनत करेगा उतना आज उसको मिलेगा जितनी मेहनत करेगा उतना आज उसको मिलेगा लेकिन एक आदमी दुनिया के अंदर जितनी मेहनत करे उतना आज उसको मिल जाए ऐसा नहीं बल्कि उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह चाहे दलील मन का जो आदमी दुनिया चाहता है तो हम दुनिया उसको देंगे लेकिन उतना ही नशा जितना हम चाहेंगे दुनिया के ऊपर आदमी मेहनत करे तो ये ना समझे कि मैं जितनी मेहनत करूंगा दुनिया मुझे मिल जाएगी नहीं बल्कि दुनिया उसे उतनी ही मिलेगी जितनी अल्लाह की मशीयत होगी वो है कि दुनिया का असूल अल्लाह की मशीयत पर होने से अल्लाह एक दुकान से जितनी चीजें दे रहा है जितना रिस्क दे रहा है अगर उतना ही रिस्क इंसान के मुकद्दर में है तो दस दुकानें ही खोल ले तो उतना ही रिस्क उसे मिले इससे ज्यादा मिसाल ऐसे जैसे एक आदमी ने घर बनाया और घर के ऊपर एक बड़ी टांकी बना दी पानी के स्टोर करने के लिए टांकी को पानी से उसको दूर कर अब चाहे एक टोटी उसमें लगा ले तो जितना टाकी के अंदर पानी है उतना ही गिरेगा और चाहे दस टोटियां लगा ले तो पानी उतना ही गिरेगा जितना टाकी के अंदर पानी उतना ही जितना टाकी के अंदर है अब उस पानी को हासिल करने के लिए चाहे एक टोटी लगा लो चाहे दस टोटी लगा लो पानी उतना ही मिलेगा जितना टाकी के अंदर इसी तरह अल्लाह ने रिस्क इंसान के हक में जितना मुकदर कर दिया है एक दुकान से जितना वो देना चाहेगा आदमी अगर दस दुकान है और दस धंधे खोले तो उतना ही तो दुनिया अल्लाह की मशीयत पर मुनहसर है हां दीन के बारे में अल्लाह तबारक ने फरमाया कि इंसान जितनी कोशिश करेगा दीन उसको इतना ही मिलेगा अजर उसको उतना ही मिलेगा ये उसकी मेहनत के ऊपर मन से दलील दलील ममन आदल आखिरत वसाया और जो आखिरत का इरादा करेगा आखिरत चाहेगा और उसके लिए उसकी कोशिश करेगा उसकी कोशिश करेगा तो उसको उसकी कोशिश के मुताबिक फल मिलेगा उसकी कोशिश के मुताबिक अजब मिलेगा उसकी मेहनत पर मुनासिब होगा अजर और जैसा कि मैंने खुद मसरूरा के बाद आयत पढ़ी सूरज है तो उसके अंदर भी इसी हकीकत को बाशिका किया गया है अल्लाह फरमाता है मन कान युरीद हरसल आखिरती नजीब लहू भी हरसी जो आदमी आखिरत की खेती चाहेगा वो नजीब लहू भी हरसी तो हम उसकी खेती में इजाफा करते रहेंगे वमन कान यूरी तो हर्षद दुनिया और जो आदमी दुनिया की खेती चाहेगा तो नूती ही मिन्हा तो हम देंगे उसको उसमें से बाग और हम बैठे में पूछे मिन जो आता है अरबी में वो तबडीज के लिए आता है अक्सर तबडीज बास यानी पूरी दुनिया नहीं मिलेगी बास दुनिया जो हम चाहेंगे वो देंगे वो मालव आखरत मिन नसीब और सिर्फ दुनिया के पीछे भागने वाला आखरत को फरामोश करके आखरत में तो उसका कोई हिस्सा ही नहीं तो आखरत तो उसके हाथ से गई और दुनिया के पीछे वो लगा रहा दुनिया भी उसे उतनी ही मिली जिसे जितना अल्लाह ने चाहा उतना नहीं मिली जिस, जितना कि उसने चाहा तो ये नुकता याद रखिए कि दीन इंसान की मेहनत के ऊपर होना जितनी मेहनत करेगा दीन उतना ही उसको मिलेगा और दीन के ऊपर उतना ही उसे अजर मिलेगा और इंसान दुनिया के ऊपर जितनी मेहनत करेगा तो मेहनत के मुताबिक उसे फल नहीं मिलेगा बल्कि अल्लाह की मशीयत के मुताबिक और एक बात और याद रखें मालो दौलत से और दुनिया के हसूल से जिंदगी का बनना ये इंसानी तजुर्बा है अल्लाह का वादा है जरूरी नहीं कि आदमी को मालो दौलत मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बन जाए जरूरी नहीं देखो हजरत दाऊद सलाम हजरत सुलेमान सलाम को बादशाह मिली जिंदगी बन गई लेकिन वही बादशाह फिरौन को मिली तो जिंदगी बिगड़ गई तो मानव दौलत से जिंदगी का बनना और बिगड़ना दोनों मानव तौर से जिंदगी का बनना इंसान तजुर्बा है अल्लाह का वादा नहीं जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो पैगंबरों को अल्लाह ने बादशाह तथा फरमाई जिंदगी बन गई लेकिन वही बादशाह फिरौन को दी गई जिंदगी बिगड़ गई एक वजारत हमान को मिली थी जो फिरौन का वजीर था वजारत मिलने पर उसकी जिंदगी खराब हो गई बिगड़ गई और वही वजारत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली जिंदगी बन गई एक के लिए जमीन फटती है तो नाते होती और एक के लिए जमीन फटती है तो गैर नाफी होती अजाब कानून के लिए जमीन फटी तो हंसता चला गया अभी धंसता चला जाए तो हंसत ना रहू हमने उसको धंसा दिया वो बेदार ही और उसके घर के साथ जमीन के अंदर उसको भी हमने धंसा दिया और उसके घर को भी धंसा दिया जिस घर के अंदर इतने कमरे हुआ करते थे इतना मालो दौलत हुआ करता था कि बड़े बड़े पहलवान लतनु बिलुस्बा बड़े बड़े पहलवान उसकी कुंजियां उठाते थे तारों को खोलने के लिए अल्लाह ने उसको धंसा दिया उसके घर के साथ जमीन के अंदर तो एक के लिए जमीन फटी तो मुसीबत बन गई और हजरत इस्माइल जमीन के ऊपर अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं जमीन फटी तो समझ नहीं कर पड़ा तो दुनिया से और मानव दौलत से जिंदगी का बनना इंसानी तजर्बा है कभी जिंदगी बनती है मानव दौलत से आदमी कभी बड़ा खुश हो लेता है और कभी डाकू आते हैं मार टूट करके ले जाते हैं तिजोरी में झाड़ू मार देते हैं और घर वालों को शूट करके निकल जाते हैं लेकिन दीन पर मेहनत करने के लिए अल्लाह तबारक ने एक फैसला फरमाया ये दीन पर जो मेहनत करेगा वो जरूर कामयाब होगा उसकी जिंदगी जरूर बनेगी ये हमारा तो दुनिया से जिंदगी का बनना इंसानी तजर्बा अल्लाह का वादा नहीं लेकिन दीन से जिंदगी का बनना ये अल्लाह का वादा ये दीन जिंदगी में लाओ हमारी जिंदगी जरूर बनेगी हमारा वादा बास बास अहकाम और क्या अल्लाह तबारक वाली के जितने भी अहकाम हैं बजाय इंसानी तबीयत के ऊपर गिरा गुजरते रोजा रखना हो इंसानी तबीयत के ऊपर गहरा गुजरता है जक़ात देना हो इंसानी तबीयत के ऊपर गहरा गुजरता है सदका निकालना हो कमाता हूं मैं दूसरों को क्यों दू दस रुपया निकालना तबीयत पर गहरा गुजरता है ठंडी में मस्जिद में आना तबीयत के ऊपर गहरा गुजरता है जितने भी अहकाम इलाहिया हैं जितनी भी तालीमत इलाहिया हैं इंसानी तबीयत के ऊपर गहरा गुजरती है लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर ये गहरानी तबीयत के ऊपर आप बर्दाश्त कर ले जाए तो फायदा कितना है अपनी तबीयत से कोई आदमी कोई काम करे और अल्लाह के हुक्म से अपनी तबीयत पर गिरानी बर्दाश्त करके वो काम करे दोनों में कितना फर्क हो जाता है जरा हजरत मूसा सलाम का वाक्य जहन में रखिए आपको एक लाठी हासिल थी जब कोई दूर पर पहुंचे तो अल्लाह तबारक ने आपसे बराह रास्त कलाम फरमाया इसी वजह से मूसा को कलीमुल्ला कहा जाता है अल्लाह ने बराह रास्त जगह फरिश्ते के वास्ते से कलाम पढ़ना है पूछा वमा अतिल कभी यमीन के या मूसा what is in your right hand O Moses मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला ये आसा इट इज माय स्टिक मेरी लाठी है और फिर आगे कह रहे हैं कि इस लाठी से मैं क्या क्या काम लेता हूँ अतवक्कु अलैहा मैं उस पर सहारा लेता हूं I lean on on it मैं उसके ऊपर सहारा लेता हूं वह अवश्य भी आला गनम और उसके लिए उसके जरिए अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं बोलिए भैया महारे मोखरा और उससे और भी बहुत सारे काम लिया करता हूँ ये काम कि इस लाठी से बस इतने ही काम में लिया करता हूँ एक तो टेक लगाता हूं दूसरे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं थोड़े थोड़े और काम कर लिया करता हूं यह मैं अपनी तबीयत से करता हूँ अल्लाह फरमाता आप इस डंडे को इस सोटे को जिससे तू ये काम देता फेंके अरे हल कहलाया मूसा फेंक इस सोटे को अब जिससे आदमी काम ले रहा हो तो उससे कहा जाए कि वो काम वाली चीज उठा करके फेंक देता है लेकिन तभी इंसानी के ऊपर गहरा गुजरेगी लेकिन अल्लाह का हुक्म है उन्होंने फेंक दिया फाल पैदा यह है तुम देखिए जैसे ही उन्होंने सोटे को फेंका सोटा नहीं रहा हो लाठी नहीं रही स्टिक नहीं रही हैया तुम तसा दौड़ता हुआ सांप बन गया अब तक सिर्फ ये पत्नियां रहे करते अब इस सांप से कोई भी काम किया जा सकता अरे इस सांप से कितना फायदा हुआ है पूरे जादूगरों के शोभन ने हड़प कर गया और तमाम जादूगरों ने यह जान लिया कि यह अजदहा हकीकत में अजदहा है जादू के जरिए कल्बे माहियत नहीं होती ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती किसी चीज मसलन किसी इंसान को गधा नहीं बनाया जा सकता किसी गधे को इंसान नहीं बनाया जा सकता ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता ऐसा कोई नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा जादू के जरिए जो कुछ होता है बस वो नजरों का एक धोखा होता है फरे में नजर होता है लाठी डालने गई तो ऐसा लगता था जैसे सांप चल रहे हो रस्सियां डालने गई तो जैसे चलते हुए सांप हो बस आंखों को वो चीज वैसी नजर आती है हकीकत में वो रस्सियां सांप नहीं बनी वो लाठियां सांप नहीं बनी फकत नजरों को ऐसा लगता था युखी मूसा को ऐसा ख्याल लगता ऐसा ख्याल आता था कि उनके जादू से वो दौड़ रही है लेकिन हकीकत में तो दौड़ नहीं रही वरना ख्याल का इस्तेमाल नहीं होता दिमाग ऐसा समझता था कि वो चीजें दौड़ रही है जादू की वजह से लेकिन जब हजरत मूसा सलाम ने अपना असा जमीन के ऊपर डाला तो वो सचमुच अल्लाह बन गया तभी तो सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और साजिदीन वो समझ गए कि हम लोगों ने जो पेश किया वो जादू है शोभता है और इस आदमी ने जो चीज पेश की है वो जादू नहीं है यहाँ हकीकत में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहाँ हकीकत में लाठी हस्ता होंगी यह हस्ता हकीकत में हम लोगों ने जो कुछ पेश किया है वो सब शोभता है तो तबीयत के खिलाफ काम करवाया गया तो उससे बड़े बड़े काम लिए गए अल्लाह ने कहा कि इससे तू क्या काम लेता था बस पत्तियां झाड़ता हूं टेक लगाता हूं कहते अच्छा अब इस जंगल के अंदर तुझे पानी कहां से मिलेगा और ये बदमाश जो तेरे साथ है तेरी कौम बहुत बदमाश कौम थी अल्लाह अकबर हजरत मूसा सलाम रातों रात लेकर निकलते हैं और फिर इनके पीछे लगता है बैर कुलजुम के बाद जब पहुंचते हैं बहर अहमर में डूबा है बाद में कहते दरिया नील में गलत हो बहर अहमर में डूबा है बहरे अहमर में रेड सी में डूबा है पीछे मुकर देखते हैं तो फ्रॉन का लश्कर आ रहा है मूसा के साथ ही परेशान हो गए कहा कि इन्ना लबुद रकून काला साहब मूसा इन्ना लबुद रकून मूसा के साथियों ने कहा कि मूसा कहां तूने ला करके हमें फंसा दिया तो हम पकड़ पकड़ ले गए फिर हम छोड़ेगा नहीं वाला कल्ला इन नमाइया रब से हरगिज नहीं बेशक मेरा रब मेरे साथ हम करीब कोई कोई रास्ता निकालेगा नबी जो होता है वो मुकम्मल मुतवक्किल अल्लाह से बड़े बड़े खतरा सामने आ जाए उसका कल मुँह तो गलती नहीं बिल्कुल घबराता नहीं लश्कर करीब आ गया फाउहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल البحر فانفلق فكان كل فرق कतौदिल अज़ीम हमने कहा है मूसा यही लाठी जिससे तू खाली पत्तियां झाड़ता था अब मेरे हुक्म से जरा इसको पानी पर मार मेरा हुक्म है पानी पर मार अनिश्चित प्यासा कल्पा है स्ट्राइक सी मार अपनी लाठी को पानी को आशा का पानी के ऊपर लगना था कि दरिया फट करके दो हिस्सों में पहाड़ की तरह खड़ा हो गया बीच में आशा लगा सिर्फ उस लाठी से बकरियों के लिए पत्ते झाड़ा करते थे और टेक लगाया करते थे अब अल्लाह के हुक्म से जब मार रहे हैं तो कितना बड़ा काम पूरे साथियों की जान बच रही है सारे के सारे लोग उस रास्ते से निकल करके दरिया क्रूज पर पहुंचे प्यासे हुए तो हर कौम हर कबीला ये चाहता था बारह इस्बाक थे वो बारह बाप के बेटे थे बारह बाप के बेटे थे और हर बाप की जो औलाद थी वो एक एक कबीले में बटी हुई इतने बदमाश थे कि जब दरिया के उस पार पहुंचे जबकि उन्होंने अपनी आंखों से यह नजारा देखा था कि मूसा ने किस तरह दरिया के ऊपर आशा मारा और दरिया ने रास्ता दे दिया उनको तो कभी यह सोचना भी नहीं चाहिए था कि अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करनी चाहिए आगे बढ़े तो देखा कि कुछ लोग वाला कौमी एक कौम के ऊपर आए देखा कि आपको को खून आला असलामी लोग अपने बुतों के ऊपर वो बैठे हुए हैं एहतिकाफ किए हुए पूजा कर रहे हैं कालू या मूसा जालना इलाहन का मालूम आ लिया ए मूसा जैसे इनके माबूद है उसी तरह हमारे भी कुछ माबूद बना दो काला इन तुम कौन का तजलो अरे जाहिलो कितने जाहिलो तुम लोग अभी तुमने इतना बड़ा मौजूदा देखा है उसके बाद तुम्हारा मुतालबा किस कदर है तंगे से कि जिस तरह इनके बुत हैं इसी तरह बुत बना दो हम पूजेंगे अल्लाह को छोड़ करके इस किस्म का ख्याल कैसे तुम्हारे बड़ी खबीस कौम थी और जैसी खबीस कौम थी वैसा ही शाह नबी भेजा गया था पूरे सिलसिले अभी इतना शाह असीमुशान इतना जलीलुल कदर पैगंबर रही है एक मूसा खाली एक तिब्बती को मारा था रात की कदम निकल गया एक फाइट के अंदर आज खत्म हो इतना जलाली पैगंबर ऐसी शैतान कौम के लिए ऐसा ही नबी दिया गया कहा तुम कौन तक जाहिल लोग इस तरीके का मुताबा तुमने किया कैसे तो ये इतनी शैतान कौम थी कि सब मिलकर के एक चश्मे के ऊपर पानी नहीं पीते हर एक कबीले के लिए अलग अलग चश्मा हुआ प्यासे हुए अल्लाह फरमाता है हमने हुक्म दिया कि पत्थर के ऊपर ऐसा मारो फजरिब प्यासा कल हजर फन फजर अपनी हुसनता अशरत ना तो पत्थर से बारह चश्मे फूट पड़े और बारह कबीलों ने अपनी अपनी प्यास बुझाई ये काम इस लाठी से लिया गया देख रहे बनकर लेकिन दीन के ऊपर मेहनत करे आदमी तो कैसे करे बड़ा भारी पड़ता है दीन के ऊपर मेहनत करना अभी आदमी दाढ़ी रख ले कोई नौजवान कभी जल्दी उसकी शादी नहीं होगी बात बात जगहों पर ऐसा मामला है बाप गुस्से के अंदर दांत किटकिटाएगा कि तुझे बाहर भेजा था तुझे पढ़ाया था सिखाया था कॉलेज में भेजा था अप डेट बनने के लिए मॉडल टाइप बनने के लिए और मुला बनकर के आ गया तो शादी कैसे हो तो अगर दीन घर में लाएंगे तो परेशानी तो होगी तो तय लेकिन रूहानी सुकून कितना मिलेगा बरकतें कितनी आएंगी आज तो ये नहीं सोच रहा हकीकत यह है कि आज दीन यतीम मक्का जना मोहम्मद सल्लल्लाहु की तरह यतीम हो यतीम हो गया दस्तूर ये था कि मक्का में शहर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो गांव से चल करके औरतें आती थी और बड़े घर के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी उनको दूध पिलाती थी इनाम जिस साल जनाब मोहम्मद रसूल की पैदाइश हुई उस साल भी बहुत सारी औरतें मक्का आई और उन्होंने बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े लोगों के बच्चे तलाश किए और लेकर के अपने अपने कबीले वापस चली लेकिन कोई औरत इस यतीम में मक्का को लेने के लिए तैयार है हर औरत ये कहती थी ये तो यतीम है पैदा होने से पहले ही इसके इसका बाप मर गया चचा भी गरीब आदमी है दादा अब है कल नहीं है पालो पोसो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन ले जाएगा इस यतीम मुसीबत है ये कुछ मिलने वाला नहीं है इसको पाल पोस करने और पाल पोस कर बड़ा करने एक औरत और आई हलीमा जनाब मोहम्मद को कोई दाई कोई औरत लेने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए कि आप यतीम थे और हलीमा को कोई बच्चा देने के लिए तैयार नहीं था इसलिए कि बेचारी मुफलिस थी गरीब जब भी वो कहीं किसी घर पे जाती कि मुझे कोई बच्चा दे दो तो मजाक से कहते कि तू हमारे बच्चे को ले जाएगी तेरा बच्चा तो वैसे रे रे रे, रे कर रहा है तेरा बच्चा खुद रो रहा है तेरी छाती में वैसे दूध नहीं है तेरी ऊंटनी का थन सूखा हुआ है तू अपने बच्चे का पेट नहीं भर सकती तो मेरे बच्चे का पेट क्या भरेगी हर घर हर घर से औरत दूध डालती है पता नहीं क्या समझ में आया असल में ऐसा है कि दर्द जब मुश्तरक हो तो फितरत अगर वहां जाने से एबा करती है तब भी दो आदमी जगह जमा हो जाए ऐसा मुमकिन तो रूमी ने एक शिकायत लिखी है एक कौवा और एक आबी बतख हाँ आबी बतख पानी के अंदर रहने वाली खूबसूरत चिड़िया खूबसूरत परिंदा वो और एक कौवा दोनों के दोनों एक जगह जिंदगी गुजार रहे हैं एक आदमी ने देखा तो बड़ी हैरत हुई देखा कि ये दोनों मिजाज अलग अलग रखते हैं रंग अलग रखते हैं लेकिन दोनों एक जगह जिंदगी कैसे गुजारना है ये बात समझ में नहीं आ रही करीब गया तो देखा दोनों लग रहे हैं आधी बतख मतलब भी लग रही है और वो कौवा भी लग रहा है तो दर्द अगर कुछ तरफ हो तो तबीयत के खिलाफ भी चीजें जमा हो जाएगी तो हजरत हलीमा को कोई बच्चा इस वजह से नहीं मिला कि बेचारी मुफलिस थी गरीब थी और यतीम मक्का को कोई औरत नहीं मिली इसलिए कि बच्चा यतीम दोनों का दर्द मुश्तरक है यह औरत इस बच्चे को ले लेती है और जैसे ही चलती है अल्लाह तबारक तारा बरकत ही बरकत नासिल फरमा देते हैं उनकी कथन दूध से भर जाता है छाती में दूध आ जाता है हलीमा के घर में बरकत ही पता ये चला कि दीन बजाहिर ऐसा लगता है कि अगर घर में लेंगे तो मुसीबत आएगी लेकिन ले तो जाओ ले जाने के बाद घर में बरकतें कितनी आएंगी हलीमा की सीरत से ये मालूम आज इसी दिन को हमने छोड़ दिया सारी मेहनतें हमारी दुनिया के ऊपर लाओ लाओ लाओ जानते हो ये लाओ लाओ किसकी आवाज है ये जहन्नम की आवाज है और ले ले ले ये किसकी आवाज है जन्नत की आवाज है करीब करीब बुला वयोम नकुल जहन्नम हलिम तलाती वतकुल हल में मजीद अल्लाह तबारक वाली जहन्नम क्या लोगों को डालता जाएगा इसलिए कि उसने वादा किया है जन्नत को भी भरने का और जहन्नम को भी भरने का जहन्नम को भरेगा और जन्नत को भी भरेगा जन्नत को कैसे भरेगा एक नई मखलूक पैदा करेगा तो हम जन्नती जन्नत में चले जाएंगे जन्नत खाली रहेगी भरेगी नहीं तो अल्लाह तबारक वाली एक नई मखलूक पैदा करेगा और जन्नत को भरेगा और जब जन्म को भरने का वादा किया तो जहन्नम को भी भरेगा वो लोग चौक दर चौक जानवर में दाखिल किए जा रहे हैं एक करो गया अल्लाह पूछता है हलिम तलाती अरे भी भर गई क्या बोल हलमी मजीद और ना हो अब कुछ लोगों को और दाखिल किया जा रहा है अल्लाह पूछ रहा है हलिम तला तलाती क्या भर गई फिर बोलती हो हलमी मजीद और ना हो तमाम जानवी जानवर में पहुंच गए कोई बाकी नहीं बचा बेशुमार लोग अंदर चले गए कोई बाकी नहीं बचा फिर अल्लाह पूछ रहा है हलिम तला तलाती भर गई जहन्नम मजीद हाँ को पता चलता जहन्नम की भीड़ तमाम जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल होने के बाद भी लाओ लाओ कहती रहेगी हलबिन मजीद और लाओ हलबिन मजीद और लाओ हलबिन मजीद और लाओ आज दुनिया ये तो कह रही है जहन्नमी की आवाज तो ला लगा रही है रिश्वत के जरिए लाओ सूद के जरिए लाओ डाकरी के जरिए लाओ चोरी के जरिए लाओ गजब के जरिए लाओ मक्काई के जरिए लाओ जहन्नम की आवाज है अब अल्लाह क्या करेगा अपना कदम रखे कदम रखते ही तेरी इज्जत की तेरी इज्जत के पसंद बस बस भर गए आप एक सवाल करेंगे कि जन्नत को भरने के लिए नई मख पैदा की गई जहन्नम को भरने के लिए अल्लाह को कदम रखने की क्या जरूरत है नई मखलूक पैदा कर देता है अल्लाह जालिम नहीं कोई नई मखलूक अगर बिला वजह किसी को सजा नहीं देगा लिहाजा अपने कदम को रखेगा और इस तरह जहन ये है सवाल का जवाब जो आपके जहन में खटक सकता है तो जहन्नम की आवाज क्या है अली मजीद लाओ लाओ जन्नत की आवाज क्या है सूर्य खाल से लाता पाता है आगे खुद खुलू हमें सलाम सलाम के साथ चले जाओ हाँ? मुझे सलाम के साथ सलामती के साथ चले जाओ सुकून और इतमान के साथ चला जाओ योमुल खुलू आज गुरूब का दिन है चले गए तो फिर यहां से निकाले जाओ यानी कि योग गुरु आज अगर दाखिल हो गए तो फिर जन्नत से कभी निकाले नहीं जाओ और लहुम्मा शाहून क्या अरे जो मांगो सब मिलेगा जो तमन्ना करोगे वो चीज हाजिर कर दी जाएगी वो लगाई ना मजीद पुराने हदीब कहकर तमाम तमन्नाओं की तकमील के बाद तो और चाहिए वह लगाई ना मजीद ले और चाहिए लदैना मजीद ले और चाहिए लदैना मजीद ले और चाहिए लदैना मजीद ले जहन्नम की आवाज हर में मजीद और जन्नत की आवाज वो लदैना मजीद ये नुकता लेकर के जाओ जहन्नम की आवाज क्या है हल में मजीद लाओ पर जन्नत आवाज क्या है वो लदैना मजीद ले इसे जैसे हदीस पाक में आ गए ऊपर वाला नीचे वाला